वो रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर देता है और उसने सूरज और चांद को काम पर लगा दिया है उनमें से हर एक किसी मुकर्रा म्याद तक के लिए रवा दवा है ये है अल्लाह जो तुम्हारा परवरदिगार है सारी बादशाही उसी की है और उसे छोड़कर जिन झूठे खुदाओं को तुम पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी कोई इख्तियार नहीं रखते